चर्चा के संदर्भ में ओम पर कुछ आपने बातें की इसी संबंध में एक छोटा सा प्रश्न यह है कि आ उ और म के कंपन किन चक्रों को प्रभावित करते हैं और उनका साधक के लिए उपयोग क्या हो सकता है इन चक्रों के प्रभाव से सातवें चक्र का क्या संबंध है पूछा है कि कल नहीं आवाज नहीं आ रही धर्म के संबंध में थोड़ी सी बातें कल मैंने आपसे कही उस संबंध में थोड़ी सी और बातें जानने जैसी हैं एक तो कि ओम सातवीं अवस्था का प्रतीक है सूचक है वो उसकी खबर देने वाला है क्या करते बंद ही कर हैं प्रतीक है सातवीं अवस्था का सातवीं अवस्था किसी भी शब्द से नहीं कही जा सकती है कोई सार्थक शब्द उस संबंध में उपयोग नहीं किया जा सकता इसलिए एक निरर्थक शब्द खोजा गया जिसमें कोई अर्थ नहीं ये मैंने कल आपसे कहा इस शब्द की खोज भी चौथे शरीर के अनुभव पर हुई है ये शब्द भी साधारण खोज नहीं है असल में जब चित्त सब भांति शून्य हो जाता है कोई विचार नहीं होते कोई शब्द नहीं होते सब भी शून्य की ध्वनि शेष होती है शून्य भी बोलता है शून्य का भी अपना सन्नाटा है अगर कभी बिल्कुल सुनी जगह में आप खड़े हो गए हों जहां कोई आवाज नहीं कोई ध्वनि नहीं तो वहां शून्य की भी एक ध्वनि है बंद रहने दो तुम बंद ही करो वहां सुनने का भी एक सन्नाटा है उस सन्नाटे में जो मूल ध्वनिया है वे ही केवल शेष रह जाए आ ओ मा ए यू एम मूल ध्वनिया है हमारे सारे ध्वनियों का विस्तार उन तीन ध्वनियों के ही नए नए संबंधों और जोड़ों से हुआ है जब सारे शब्द खो जाते हैं तब ध्वनि शेष रह जाती तो ओम शब्द तो प्रतीक है साथ में अवस्था का साथ में शरीर का लेकिन ओम शब्द को पकड़ा गया है चौथे शरीर से चौथे शरीर की मनस शरीर की शून्यता में शून्यता में जो ध्वनि होती है शून्य की जो ध्वनि है वहां ओम पकड़ा गया है तो इस ओम का यदि साधक प्रयोग करे तो दो परिणाम हो सकते जैसा कि आपको याद होगा मैंने कहा कि चौथे शरीर की दो संभावनाएं सभी शरीरों की दो संभावनाएं यदि साधक ओम का ऐसा प्रयोग करे तो उस ओम के द्वारा तंद्रा पैदा हो जाए निद्रा पैदा हो जाए किसी भी शब्द की पुनरुक्ति से पैदा हो जाती है किसी भी शब्द को अगर बार बार दोहराया जाए तो उसका एक सा संघात एक सी चोट लयबद्ध जैसे कि सिर पर कोई ताली थपक रहा हो ऐसा ही परिणाम करती है और तंद्रा पैदा कर देती है तो चौथे मनस शरीर की जो पहली प्राकृतिक स्थिति है कल्पना स्वप्न अगर ओम का इस भांति प्रयोग किया जाए कि उससे तंद्रा आ जाए तो आप एक स्वप्न में खो जाएंगे वो स्वप्न सम्मोहन तंद्रा जैसा होगा हिप्नोटिक स्लीप जैसा होगा उस स्वप्न में जो भी आप देखना चाहें देख सकेंगे भगवान के दर्शन कर सकते हैं स्वर्ग नरकों की यात्रा कर सकते हैं लेकिन होगा वो सब स्वप्न सत्य उसमें कुछ भी नहीं होगा आनंद का अनुभव कर सकते हैं शांति का अनुभव कर सकते हैं लेकिन होगी सब कल्पना यथार्थ कुछ भी नहीं होगा तो एक तो ओम का इस तरह का प्रयोग है जो अधिकतर चलता है ये सरल बात है इसमें बहुत कठिनाई नहीं है ओम की ध्वनि को जोर से पैदा करके उसमें लीन हो जाना बहुत ही सरल है उसकी लीनता बड़ी रसपूर्ण जैसे सुखद स्वप्न होता है ऐसी रसपूर्ण मन चाह स्वप्न ऐसी रसपूर्ण और मन शरीर का दो ही रूप है कल्पना का स्वप्न का और दूसरा रूप है संकल्प का और दिव्य दृष्टि का विजन का तो अगर ओम का सिर्फ पुनरुक्ति से व्यवहार किया जाए मन के ऊपर तो उसके संघात से तंद्रा पैदा होती जिसे योग तंद्रा कहते हैं वो ओम के संघात से पैदा हो जाता है लेकिन यदि ओम का उच्चारण किया जाए और पीछे साक्षी को भी कायम रखा जाए दोहरे काम किए जाएं ओम की ध्वनि पैदा की जाए और पीछे जाग के इस ध्वनि को सुना भी जाए इसमें लीन न हुआ जाए इसमें डूबा ना जाए ये ध्वनि एक तल पर चलती रहे और हम दूसरे तल पर खड़े होकर इसको सुनने वाले साक्षी दृष्टा श्रोता हो जाएं, लीन न हो बल्कि जाग जाएं इस ध्वनि में तो चौथे शरीर की दूसरी संभावना पर काम शुरू हो जाता तब स्वप्न में नहीं जाएंगे आप योग तंद्रा में नहीं जाएंगे योग जागृति में चले जाएंगे मैं निरंतर कोशिश करता हूं कि आपको शब्द के प्रयोग ना करने को कहूं निरंतर कहता हूं कि किसी मंत्र किसी शब्द का आप उपयोग ना करें क्योंकि सौ में निन्यानवे मौके आपके तंद्रा में चले जाने उसके कारण हमारा वो जो चौथा शरीर है निद्रा का आदि है वो सोना ही जानता है वो जो हमारा चौथा शरीर है ड्रीम ट्रैक उसका बना ही हुआ है वो रोज सपने देखता ही तो ऐसे ही जैसे इस कमरे में हम पानी को बहा दें फिर पानी सूख जाए पानी चला जाए सूखी रेखा रह जाए फिर हम दूसरा पानी डालें तो वो पुरानी रेखा को पकड़ के ही बह जाए तो शब्द मंत्र के उपयोग से बहुत संभावना यही है कि आपका वो जो स्वप्न देखने का आदि मन है वो अपनी यांत्रिक प्रक्रिया से तत्काल स्वप्न में चला जाए लेकिन यदि साक्षी को जगाया जा सके और पीछे तुम खड़े होकर देखते भी रहो कि ये ओम की ध्वनि हो रही है इसमें लीन न हो इसमें डूबो मत तो ओम से भी वही काम हो जाएगा जो मैं मैं कौन हूं के प्रयोग से तुम्हें करने को कह रहा हूं अगर मैं कौन हूं को भी तुम निद्रा की भांति पूछने लगो और पीछे साक्षी न रह जाओ तो जो भूल ओम से स्वप्न पैदा होने की होती है वो मैं कौन हूं से भी पैदा हो जाए लेकिन मैं कौन हूं से पैदा होने की संभावना थोड़ी कम है ओम की बजाय उसका कारण है कि ओम में कोई प्रश्न नहीं सिर्फ थपकी मैं कौन हूं मैं प्रश्न सिर्फ थपकी नहीं है और मैं कौन हूं कि पीछे क्वेश्चन मार्क खड़ा जो आपको जगाए रखेगा ये बड़े मजे की बात है कि अगर चित्त में प्रश्न हो तो सोना मुश्किल हो जाता है अगर आपके दिन में भी कोई चित्त में बहुत गहरा प्रश्न गूंज रहा तो आज आप रात आपकी नींद खराब हो जाएगी प्रश्न आपको सोने न देगा वो जो क्वेश्चन मार्क है अनिद्रा का बड़ा सहयोग अगर चित्त में कोई प्रश्न खड़ा है चिंता खड़ी है कोई सवाल खड़ा है कोई जिज्ञासा खड़ी है तो नींद मुश्किल हो जाएगी तो मैं ओम की जगह मैं कौन हूं के प्रयोग के लिए इसलिए कह रहा हूं कि इसमें मौलिक रूप से एक प्रश्न और चूंकि प्रश्न है इसलिए उत्तर की बहुत गहरी खोज और उत्तर के लिए तुम्हें जागा ही रहना होगा ओम में कोई प्रश्न नहीं है उसकी चोट नुकीली नहीं है वो बिल्कुल गोल है उसमें कहीं चोट नहीं उसमें कहीं कोई प्रश्न नहीं है और उसका निरंतर संघात उसकी चोट निद्रा ले आएगी फिर मैं कौन हूं मैं संगीत नहीं ओम में बहुत संगीत वो बहुत संगीत और जितना ज्यादा संगीत है उतना स्वप्न में ले जाने में समर्थ मैं कौन हूं आड़ा तेरा है पुरुष शरीर जैसा है ओम जो है बहुत सुडौल स्त्री शरीर जैसा है उसकी थपकी जल्दी सुला देगी शब्दों के भी आकार है शब्दों की भी चोट का भेद है उनका भी संगीत है मैं कहूं में कोई संगीत नहीं है वो सुनाना जरा मुश्किल है अगर सोया आदमी भी पड़ा हो और उसके पास हम बैठ के कहने लगे मैं कौन हूं मैं कौन हूं तो सोया हुआ आदमी भी जग सकता है लेकिन स्वयं आदमी के पास अगर हम बैठकर ओम और ओम और ओम की बात दोहराने लगे तो उसकी नींद और गहरी हो जाएगी संघात के फर्क लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ओम से नहीं किया जा सकता संभावना तो है अगर कोई ओम के पीछे जाग कर खड़ा हो सके तो उससे भी यही काम हो जाएगा संभावना तो है ही अगर कोई ओम के पीछे जाग कर खड़ा हो सके तो उससे भी यही काम हो जाएगा लेकिन मैं ओम को साधनों के बतौर प्रयोग नहीं करवाना चाहता उसके और भी बहुत कारण क्योंकि ओम की अगर साधना करेंगे तो चौथे शरीर से ओम का अनिवार्य एसोसिएशन हो जाएगा ओम प्रतीक तो है सातवें शरीर का लेकिन उसका अनुभव होता है चौथे शरीर में ध्वनि का अगर एक बार ओम से साधना शुरू की तो ओम और चौथे शरीर में एक एसोसिएशन अनिवार्य संबंध हो जाएगा और वो रोकने वाला सिद्ध होगा वो आगे ले जाने में बाधा डाल सकता है तो इस शब्द के साथ कठिनाई है इसकी प्रती तो होती है चौथे शरीर में लेकिन उसको प्रयोग किया गया सातवें शरीर के लिए और साथ में शरीर के लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास और हम जहां तक शब्दों का अनुभव करते हैं चौथे शरीर के बाद फिर शब्दों का अनुभव बंद हो जाता है तो चौथे शरीर का जो आखिरी शब्द है उसको हम अंतिम अवस्था के लिए प्रयोग कर रहे हैं और कोई उपाय भी नहीं क्योंकि पांचवें शरीर फिर निशब्द है छठवां बिल्कुल निशब्द है सातवां तो बिल्कुल ही शून्य है चौथे शरीर की जो आखिरी शब्द की सीमा है जहां से हम शब्दों को छोड़ेंगे वहां आखिरी क्षण में सीमांत पर ओम सुनाई पड़ता है तो भाषा की दुनिया का वो आखिरी शब्द है और अभाषा की दुनिया का वो पहला वो दोनों की बाउंड्री पर है है तो वो चौथे शरीर का लेकिन हमारे पास उससे ज्यादा सातवें शरीर के कोई निकट शब्द नहीं है फिर और शब्द और दूर पड़ जाते हैं इसलिए उसको साधने के लिए प्रयोग किया है तो मैं पसंद करता हूं कि उसको चौथे के साथ बांधे ना वो अनुभव तो चौथे में होगा लेकिन उसको सिंबल सातवें का ही रहने देना उचित तो इसलिए उसका साधना के लिए उपयोग करने की जरूरत नहीं उसके लिए कोई ऐसी चीज की उपयोग करना चाहिए जो चौथे पे छूट भी जाए जैसे मैं कौन ये चौथे पे प्रयोग भी होगा छूट भी जाएगा और ओम का सिंबॉलिक अर्थ ही रहना चाहिए साधन की तरह उसका उपयोग और भी एक कारण से उचित नहीं है क्योंकि जिसे हम अंतिम का प्रतीक बना रहे हैं उसे हमें अपना साधन नहीं बनाना चाहिए जिसको हम परम एब्सोल्यूट का प्रतीक बना रहे हैं उसका साधन नहीं बनाना चाहिए वो साध्य ही रहना चाहिए ओम वो है जिसे हमें पाना है इसलिए ओम को किसी भी तरह के मीन्स की तरह साधन की तरह प्रयोग करने के मैं पक्ष में नहीं और उसका प्रयोग हुआ उससे बहुत नुकसान हुए उसका प्रयोग करने वाला साधक बहुत बार चौथे शरीर को सातवा समझ बैठा क्योंकि ओम सातवें का प्रतीक था और चौथे में अनुभव होता है और जब चौथे में अनुभव होता है तो साधक को लगता है कि ठीक है हम ओम को उपलब्ध हो गए अब और यात्रा ना रही अब यात्रा खत्म हो गई इसलिए साइकिक बॉडी पर बड़ा नुकसान होता वो वहीं रुक जाता है बहुत से साधक हैं जो विजन्स को दृश्यों को रंगों को ध्वनियों को नाद को इसको उपलब्धि मान लेते स्वभावता क्योंकि जिसको अंतिम प्रतीक कहा है वो इस सीमा रेखा पे पता चलने लगता है फिर हमें लगता है आ गई सीमा इसलिए भी मैं चौथे शरीर में इसके प्रयोग के पक्ष में नहीं और इसका अगर प्रयोग करेंगे तो पहले दूसरे तीसरे शरीर पर इसका कोई परिणाम नहीं होगा इसका परिणाम चौथे शरीर पर होगा इसलिए पहले दूसरे तीसरे शरीर के लिए दूसरे शब्द खोजे गए जो उन पर चोट कर सकते हैं ये जो मूल ध्वनिया है आ उ मां की इस संबंध में एक बात और ख्याल में ले लेनी उचित है जैसे बाइबल बाइबल ये नहीं कहती कि परमात्मा ने जगत बनाया बनाने का कोई काम किया ऐसा नहीं कहती कहती ऐसा है कि परमात्मा ने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया बनाने का कोई काम नहीं किया बोलने का कोई काम किया जैसे बाइबल कहती है कि सबसे पहले शब्द था दी वर्ड सबसे पहले शब्द था फिर सब हुआ पुराने और बहुत से शास्त्र इस बात की खबर देते हैं कि सबसे पहले शब्द था इससे कि भारत में कहते हैं शब्द ब्रह्म है हालांकि इससे बड़ी भ्रांति होती इससे कई लोग समझ लेते हैं कि शब्द से ही ब्रह्म मिल जाएगा ब्रह्म तो मिलेगा नहीं शब्द से लेकिन शब्द ब्रह्म है इसका मतलब केवल इतना ही है कि हम अपने अनुभव में जितनी ध्वनियों को जानते हैं उसमें सबसे सूक्ष्मतम ध्वनि शब्द की है अगर हम जगत को पीछे लौटाएं पीछे लौटाएं पीछे लौट जाएं तो अंततः जब हम शून्य की कल्पना करें जहां से जगत शुरू हुआ होगा तो वहां भी ओम की ध्वनि हो रही होगी उस शून्य में क्योंकि जब हम चौथे शरीर पर शून्य के करीब पहुंचते तो ओम की ध्वनि सुनाई पड़ती है और वहां से हम डूबने लगते हैं उस दुनिया में जहां की प्रारंभ में दुनिया रही होगी चौथे के बाद हम जाते हैं आत्म शरीर में आत्म शरीर के बाद जाते हैं ब्रह्म शरीर में ब्रह्म शरीर के बाद जाते हैं निर्वाण शरीर में और आखिरी ध्वनि जो उन दोनों के बीच में वो ओम की है इस तरफ हमारा व्यक्तित्व है चार शरीरों वाला जिसको हम कह सकते हैं जगत और उस तरफ हमारा अव्यक्तित्व है जिसको हम कह सकते हैं ब्रह्म ब्रह्म और जगत के बीच में जो ध्वनि सीमा रेखा पर गूंजती है वो ओम की है इस अनुभव से ये ख्याल में आना शुरू हुआ कि जब जगत बना होगा तो उस ब्रह्म के शून्य से इस पदार्थ के साकार तक आने में बीच में ओम की ध्वनि गूंजती रही होगी और इसलिए शब्द था वर्ड था उस शब्द से ही सब हुआ ये ख्याल है और इस शब्द को अगर हम उसके मूल तत्वों में तोड़ दें तो वो ए यू एम पर रह जाता है बस तीन ध्वनिया मौलिक रह जाती उन तीनों का जोड़ ओम है तो इसलिए ऐसा कहा जा सकता है ओम ही पहले था ओम ही अंत में होगा क्योंकि अंत जो है वो पहले में ही वापस लौट जाना है वो जो अंत है वो सदा पहले में वापस लौट जाना है सर्किल पूरा होता है लेकिन फिर भी मेरा ये निरंतर ख्याल रहा है कि ओम को प्रतीक की तरह ही प्रयोग करना है साधन की तरह नहीं साधन की और चीजें खोजी जा सकती हैं ओम जैसे पवित्रतम शब्द को साधन की तरह उपयोग करके अपवित्र नहीं करना है इसलिए मुझे समझने में कई लोगों को भूल हो जाती है मेरे पास कितने लोग आते हैं वो कहते हैं आप ओम अगर हम ओम जपते हैं तो आप मना क्यों करते हैं शायद उन्हें लगे कि मैं ओम का दुश्मन लेकिन मैं जानता हूं कि वो ही दुश्मन है क्योंकि इतने पवित्रतम शब्द का साधन की तरह उपयोग नहीं होना चाहिए असल में ये हमारी जीभ से बोलने योग्य नहीं असल में ये हमारे शरीर से उच्चारण योग्य नहीं ये तो उस जगह शुरू होता है जहां जीव अर्थ खो देती है शरीर व्यर्थ हो जाता है वहां इसकी गूंज है और वो गूंज हम नहीं करते वो गूंज होती है वो जानी जाती है वो की नहीं जाती इसलिए ओम को जानना ही है करना नहीं है और भी खतरा है कि अगर आपने ओम का प्रयोग किया तो जो उसका मूल उच्चार है जो अस्तित्व से होता है उसका आपको कभी पता नहीं चल पाएगा कि वो कैसा है आपका अपना उच्चारण उस पर आरोपित हो जाएगा तो उसकी शुद्धतम जो अनुभूति है वो आपको नहीं हो सकेगी तो जो लोग भी ओम शब्द का साधना में प्रयोग करते हैं उनको वस्तुतः ओम का कभी अनुभव नहीं हो पाता क्योंकि वो जो प्रयोग कर रहे हैं उसका ही अभ्यास होने से जब वो मूल ध्वनि आनी शुरू होती तो उनको अपनी ही ध्वनि सुनाई पड़ती है वो ओम को नहीं सुन पाते शून्य का सीधा गुंजन उनके ऊपर नहीं हो पाता अपना ही शब्द वो तत्काल पकड़ लेते स्वभाव था क्योंकि जिससे हम परिचित हैं वो आरोपित हो जाता है इसलिए मैं कहता हूं ओम से परिचित न होना ही अच्छा उसका उपयोग न करना ही अच्छा वो किसी दिन प्रकट होगा चौथे शरीर पर प्रकट होगा और तब वो कई अर्थ रखेगा एक तो ये अर्थ रखेगा कि चौथे शरीर की सीमा आ गई और अब आप मनस के बाहर जाते हैं शब्द के बाहर जाते हैं आखिरी शब्द आ गया जहां से शब्द शुरू हुए थे वहीं आप खड़े हो गए जहां पूरा जगत सृष्टि के पहले क्षण में खड़ा होगा वहां आप खड़े हो गए उस सीमांत पर खड़े और फिर जब उसकी अपनी मूल ध्वनि पैदा होती है तो उसका रस ही और है उसको कुछ कहने का उपाय नहीं हमारा श्रेष्ठतम संगीत भी उसकी दूरतम ध्वनि नहीं है हम कितने ही उपाय करें उस शून्य के संगीत को हम कभी भी ना सुन पाएंगे और म्यूजिक ऑफ साइलेंस को हम कभी भी ना सुन पाएंगे और इसलिए अच्छा हो कि हम उसको कुछ मान के ना चलें कोई रूप रंग दे के ना चले नहीं तो वही रूप रंग उसमें अंतता पकड़ जाएगा और वो हमें बाधा दे सकता है